उनके आगे जहन्नुम है और जो उन्होंने कमाया उसमें से कुछ भी उनके काम नहीं आएगा और ना ही वो जिनको उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा अपना हिमायती बना लिया था और उनके लिए बड़ा अजाब है